ये दिखाने की लीला नाम देश और नाम दे के प्रभु के तो यहाँ ये आश्चर्य हुआ भगवान ने कहा अच्छा एक काम करो हम तो इनको देंगे पर ये ले लेकर बोले महाराज आप देख के तो देखो तो अच्छा ये कल जब जाएंगे लकड़ी काटने जंगल में तो रास्ते में हम अमुक जगह पर एक महरों की थैली डाल देंगे इस रूप में डालेंगे कि वो उनको दिखाई भी दे तो इसमें ये ले लेंगे तो भाई उसके बाद हमने उनको दे दिया तुम्हारी भी बात हो गई तो नरक तो भाई हमारा प्रचार जो है उसके बाद आप डालें तो दूसरे दिन ये जंगल में जाया करते दोनों स्त्री पुरुष तुम्हारी लेते जंगल में जाकर उन सूखी लकड़ियों के काट काटते जिसमें पेड़ों को भी पीड़ा नहीं नाम दे तो भूल सके उसको अपने जीवन में एक बार ये नाथ दिखला चुके हमारा दूसरे की पूजा अपनी आने संत दूसरे की पूजा को अपना सुख बना ले वसंत वसंत संत का भोग भोग दूसरे की पूजा को जो अपनी माने वो संत और दूसरे की पूजा को अपना सुख बना ले वो तो असंत नाम जो छोटे जब रहे तो एक दिन कुल्हाड़ी लेकर के अपनी माँ के पास आए और ये अपने पैर की खाल को खेलने लगे चमड़ी को तो कहा माना क्या कर रहे हो बोले बुरा देख रहा हूँ मैं अनुभव कर रहा हूँ बोले क्या बोले तुमने से कहा था ना कि ये पेड़ की खाल छील के ले आओ तो मैं देखता हूँ कि खाल छीलने से जो फोकस होता है तो नहीं तो ये अपनी खाल को छील के देखता हूँ आत्मी उपन्यान सर्वत्र ऐसे नाम देव रहे तो क्या किया उन्होंने कि वो थैली डाल दी दूसरे दिन जब ये रांका बांका दोनों गए बन में जंगल में सूखी लकड़ी काट के लाके उसको बेच के जितना पैसा मिलता उसमें आधा तो दे देते दूसरे को जिनको खाने को इतना चाहिए जिनके जीवन का स्टैंडर्ड इतना ऊंचा हो गया अपनी जीवन निर्वाह के लिए जिन चोरी करनी पड़े दूसरे क्या देंगे आजकल ये जो है गुरु क्या करे काम चलता ही नहीं दान कहाँ से वहाँ दो तीन पैसे चार पैसे उनको मिलते लकड़ी प्राप्त कर लाने में इनमें से आधा तो वो दे देते दूसरों को और आधे वो सपना पेट भरते हुए उनके रोज की चर्या थी तो वो जा रहे थे रास्ते में आगे आगे थे राका जी पीछे पीछे थी बाका जी तो भगवान की वैसे मिलती थी तो वो जहां वो थैली के पास पहुंचे तो उनका पैर पड़ा ठंड आवाज हुई कि देखा तो दिखाई दी वो पारदर्शी कोई थैली थी नहरें दिखाई दी तो उन्होंने देख जा तू देख घर बाका जी जरा पीछे आ रही थी उन्होंने धूल डालना शुरू किया उसका तो थैली को धूल से ढकने लगे ये ढक गई उतने में बांका जी आ पहुंची बांका जी ने कहा कि नाथ क्या कर रहे थे क्या हो रहा है ये बोले नहीं ऐसे कुछ ऐसे क्या बताइए तो क्या कर रहे थे बोले अब मेरे की थैली थी उसको मैं ढक रहा था इसलिए कि तुम पीछे से आ रही हो और कहीं मन में आ जा उसने कहा महाराज ये भूल पर भूल डालने से क्या क्या लाभ हुआ <laughs> ये भूल पर भूल क्यों डाली आपने मतलब ये कि उनकी बुद्धि में मोहन की छोड़ी तो थी धूल दाह में लायक पर इनकी दृष्टि में तो मोर फूल में धूल ही थी तो धूल को क्या करी निशान महत्ता बताइए उनके हमने बड़ा त्याग किया और क्या क्या किया धूल को तो धूल डाल दी धूल थी ही तो संत को विराग में क्या सुख होता है वो संत जानता है उसके आगे जाकर जब भक्तिनिष्ठ होता है वो महापुरुष वैराग्यवान तब ये राखा बांका जो भांति उनमें एक तो इस प्रकार का प्रेम रस का उदय होता है कि इस रथ सागर में जो निरंतर सदा सर्वदा डूबे रहते हैं निमग्न रहते हैं उससे फिर वो निकलते नहीं प्रेम सागर में डूबा हुआ कोई फिर उछलता नहीं बाहर नहीं निकलता ये ललित ने कहा उन्होंने तो कहा हमने कभी किसी को देखा ही नहीं उसमें डूब गया तो आप बाहर जो निकला हो ऐसा हमने नहीं देखा बाहर नहीं उछलते देखा तो ये जहाँ वैराग्य वास्तव में जागृत होता है वहां पहले पहले तो क्या होता है जीवन में ये चीज आनी चाहिए नहीं आती हम लोगों के जीवन में नहीं आई ये एक अभाग्य है जीवन में चीज ऐसी आनी चाहिए जहाँ भोग बुरे लगे जहाँ भोग सुहाए जहां इनको देख करके भागने की इच्छा हो और हो जाता महाराज ये रुपया रुपया धनमन ऐसी चीज है दे रहे राजपूत भाई राजपूत भाई रहे बोले कमाने करें तो राजस्थान में ईट रहे तो ये एक ईट पर दो, दोनों भाई तैयार हुए और क्या कहीं जा करके विदेश में कमाएंगे ईट पर सवार होकर दोनों भाई चले जा रहे थे जंगल में सामने से दौड़ते हुए सुविधा जी आए अरे बोले भागो भागो वापस वापस चले जाओ वापस चले जाओ वापस चले जाओ इनका क्या बोले दाइन बैठी है देखा जाए दाकिन बैठी है तो सन्यासी आए सन्यासी का नाम नाम सुझा दीजिए क्या नहीं उनका नाम नाम सुझा दीजिए क्या है तो कहा भाई विरक्त थे तुम कहा भाई जाओ जाओ दौड़ जाओ वापस लौट जाओ दाकिन बैठी आगे खा जाए दाकिनी वो जरा सा उनको रिकॉर्ड बोले क्या बताए गए नहीं इतनी फिक्र नहीं है वो शायद दाकिन नहीं तक आ जाए हम तो भाग बहुत तो वो बाचन के डर से संत जी को भाग गए उन्होंने क्या सा वो कहने डरे ठहरे फिर सोचा कि अरे हम लोग तो राजपूत हैं और हमारे हाथ में ये बंदूकें हैं और हमने भगवान ने साहस दिया है बल दिया है तो गाय नहीं खा जाएगी नहीं नहीं चलो आए है क्या देखेंगे गायन को कर रहे हैं कि गायन बैठ चल आगे आगे जा करके एक जगह पर पहुंचे स्थान में तो वहाँ महाराज मोहरों की भरी थोड़ियाँ और इन पर लिखा लिखी हुई जनती दो थोड़ियों में दस हजार मेरे बड़ा तो संत बनता था अब पता रहा कैसा संत है हम लोगों को धोखे में डाल रहा था कि ये न जाए आगे तो स्वयं को स्वर्ग लाने गया जैसे अपनी आंखों से देखे आदमी कैसे देखे कैसे देखे दूसरे को ये कैसा है एक महात्मा रहे एक महात्मा रहे वो महात्मा अपना जंगल में रहते और तो भगवान का ध्यान किया करते एकांत में बड़े अच्छे निष्ठ पुरुष थे तो चांदनी रात थी जाने रात में वो बाहर कुटिया से आ गए रास्ते में बड़ी सुंदर रात में सुनसान जंगल कोई था नहीं वहाँ पर रुका उनके सर्वथा वो भगवान का ध्यान करने लगे निमग्न हो गए अब गई की बात थोड़ी देर में एक चोर डाकू वहाँ से निकला उसने देखा कि आँख में जो ये बैठा है तो ये हमारे जैसा कोई तो न कोई हेर में बैठा है तो वो भी बदल ही जाती बदल गए तो जांच निकली अब वो तो था ध्यान मग्न अब दूसरे को तो बेचारी आंख मूदी थी अब इसकी आंख बंद कैसे रहे तो बार बार आंख खोले देखो फिर उसकी आंख बंद फिर आंख खोले तो उसकी आंख बंद तो अब उसको कितनी देर तक बेचारा घर में रखता रहा नहीं अरे बोले आंख खोल आंख खोल अब वो ज्यादा नहीं तो ध्यान लगने था ये बड़े जोर से बोल करके और ये पकड़ के दाएं उसको यूं गटमगाया तो आंखों भी ध्यान टूट गया कि बोले भाई क्या बात है कितनी देर में कौन आने वाला महात्मा ने कहा कि कौन कुछ देर में आने वाला हम तो समझे नहीं अरे अगर तुम समझे नहीं हम सब सुन सकते ये हम दोनों एक हम उनसे कैसे बातें हो जैसे तुम वैसे हम अपना हिस्सा रखो और हम तुम्हारी सहायता करेंगे लूटने उठने में कहीं कुछ हथियार हम तुम्हें सहायता करेंगे जानते हैं हम तुम्हारी सहायता करेंगे देखो हमारे पास हथियार नहीं मजे में काम हुआ अजीब सारा कुछ समझे नहीं तुमको ने क्या भाई बात क्या है तुम क्या कह रहे हो बोले बस ये सब अरे बोले हम सजाती जब मिल गए तो छिपाने कौन से बात है तुम बड़े गड़बड़ आदमी हो तू बेचारा समझा प्राचीन क्या बात है तो उसने कहा कि देखो बात क्या है और तुम क्या कहलवाते हमसे कितनी रात में अकेले में कोई आदमी आकर जंगल में बैठता है क्या बिना किसी मतलब के कि तुम यहाँ जंगल में आके बैठे आम रास्ते पर जरूर ऐसी बात हम लोग हमेशा करते हैं आम रास्ते पर रात के बैठ जाया करते हैं और राह राह जरूर किया करते हैं इसलिए तुम बैठ लो और हम तुम अपनी मुँह को हमारे मुँह सुन लो अब तुम्हारा हमारा उपचार है तुम्हारे साक्षात है तुम्हारे साक्षात आधा जा रहा कुछ बताओ उसने कहा भैया हम बात जानते नहीं अथवा तो हमको पता नहीं हमको भगवान का ध्यान कर रहे हैं तो बोले हम भी आज आगे मुझे पर ध्यान ध्यान हमने भी किया असली बात तो जो ऐसे होगी तो उसकी समझ में कभी आ रहे नहीं कि एकांत में आंख मूंद कर कोई अकेले में किसी लक्ष्य में न बैठ कर ऐसे बहता भगवान भगवान को भगवान कि ध्यान में आवे नहीं ये दशा तो हमारी है हम संतों को तोड़ते हैं अपनी बुद्धि से अपनी आंख से अपने विचारों से हम तोल पाते हैं हमारा कोई कांटा जो है वो तोड़ने वाला पत्थरों का तो वो इसलिए समझा दिए राजपूत भाइयों ने कि जरूर साधु जो है वो भी गया है हमारे किसी सवारी लाने के लिए उनसे चोरियाँ होती नहीं तो हम लोगों को धोखा दिया मेरे ज्ञान पर अब हमको आयु हम तो हमको तो बुद्धिमान जो ठहरे ऐसे नीर ठहरे हैं अब वो वो बोला फिर मुझे में खाए और खा पी करके ले जाएंगे फिर चोरियों के लिए जितने तो भगवान ने कमाई आगे दे दी कहीं कमाना उमाना करता तैयार हो गए अब तैयार होने के बाद मैंने खाए पी तो एक भाई ने कहा था तुम जाओ जाओ थोड़ी दूर करो तो खाने को लिया हम बैठे यहाँ पर उनकी संभाल करते ये गया इधर ये रहा अब रहते उसके मन में वो धर्म के संग में प्राप्त हो गए कुशन अरे बोले दो थोड़ी दस हजार की और आधा ले दे जाइए तो कहाँ से रह गए ऐसी तरकीब करें कि जिसको जैसे अपने आ जाए तो जहां बुरी इच्छा पैदा हुई कि बुरी सह मन में भी ये करो तो बुद्धि बुद्धि कुबुद्धि की सीधा काम होने बंदूक अपने पास आई बंदूक को भर कर तैयार रखा जब वो मिठाई लेकर के सामने देखे तो तत्काल डाक दो उसको ये मर जाए कहीं जानता है कहीं देखता है इसको ही गाड़ देंगे तो अपनी खड़ी होंगे भी वहाँ जाके कह देंगे कि भाई को हजा हो गया था कोई बात नहीं तैयारी थी इसमें मगर इसके मन में भी यही आया कि राम राम राम आधा बढ़ जाए या कुछ करें इसके पास भूगल हमारे सीधा काम है मिठाई ले जाए तो उसमें मिला के संख्या और जाए जो पहले वो खा ले हम थोड़े खाएंगे हम कहेंगे भाई हम जरा थके आए हैं क्या नहा धोने से इतने खा ले तो वो खा के वहीं पर बह पड़ेगा माल हमारा हो गया दोनों ने योजना बना ली दोनों ने योजना अनुसार अपना अपना कार्य कर लिया उसने बंदूक भर ली उसको जहर मिला दिया एक पहुंचा मिठाई लेकर के और बंदूक तैयार थी बस सामने बीच से गोली छूटी लगी उसके करोगे हो गया मेरे ये गिर अब ये बस इसको बड़ा आश्वासन मिल गया कि अब तो काम बन गया टेंशन दूर हो गया अब काम बन गया अब नजर में खूब लेके जाएंगे और लेकिन मिठाई देने लेके आए जरा खाते में क्या है बस मिठाई उठाई मिठाई खा के भी सो गए महात्मा इधर सोचा चले गए उन्होंने बात को तो माने नहीं और चले गए उधर आगे तो कहीं दान वान ने खा न लिया उनसे आगे जाके देखे तो एक महाराज को तो बैठे हैं तो दोनों की लाश करी दोनों थैलियां पास कर ये चीज इससे कहना ये है कि जो विषयों के शरीर को जान लेते हैं उनको विषयों से भय पैदा हो जाता है उनको विषयों में संदेह पैदा हो जाता है संदेह भय नहीं वो विषयों की इस नारात्मकता को इस इस अनिष्टकारिता को इस देश को पहचान देते हैं इसलिए एक एक घड़ी ऐसी कभी मनुष्य के मन में आती है जो साधना में लगाती है उसको ये सब चीजें भयावनी बुरी मालूम होती हैं इनकी तरफ वो अपने मन को करना चाहता नहीं बल्कि इनसे डरता है ये छूट जाए तो बड़ा अच्छा और जहाँ छूट जाती हैं वहाँ उसको आश्वासन मिलता है कि भगवान ने बड़ी कृपा की नहीं तो मैं छिपा हुआ कृपा ही करते हैं कृपा करते हैं भगवान अलग अलग कृपा के उनके तरीके होते हैं जहाँ जैसी बीमारी वैसी दवा कहीं किरान दे दें कहीं मीठी दवा दे दें अलग अलग उस सबको दवा उठी हुई है तो सर ऐसी स्थिति एक आती है जब विषयों के प्रति विराग मन में जागता है और भगवान की ओर वृत्ति जाती है संसार से निकल भागना चाहता है ये उसकी शुभ घड़ी जीवन की प्रारंभ ये जीवन की शुभ घड़ी का प्रारंभ वहाँ मानना चाहिए जहाँ विषयों से संसार से निकल जाने की इच्छा जाग जाए तो यहाँ से शुभ आरंभ होता नहीं तो सारा अशुभ अशुभ है इनके के भी अशुभ बड़ी लोक ख्याति भी अशुभ पूजा भी अशुभ मान भी अशुभ क्योंकि ये अशुभ की प्राप्ति कराने वाला है कि जब कभी किसी के मन में ये उदय होता है भाव कि इससे निकले अलग हों इससे ये बड़ी बुरी चीज ये दौड़ा की भावना जहाँ पैदा होती है वहाँ विकृष्णा विषयों से होती है वहीं पर ये मानना चाहिए कि जीवन की शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त का ये प्रारंभ हो गया ये ये यहीं पर देखना है शुभ घड़ी है या नहीं यहीं पर इस बात को जांचना है इस बात को देखना है कि शुभ घड़ी आई कि नहीं ये हमको तो अशुभ का शुभ मानते हैं जब हम कभी संसार के बंधनों में अधिक बढ़ते हैं और बंधन अनुकूल होते ये तो ये बहुत बड़ी हमारी प्रमाद की स्थिति है कि जब हम अनुकूल बंधन को सेवा मानते हैं अनुकूल बंधन को सौभाग्य मानते हैं ये हमारे लिए बड़ी अच्छी दिखाई है बंधन पर इसमें अब तक अनुकूलता का बोध है और तो उसको हमने सौभाग्य माना ये सांसारिक प्रवृत्तियां सांसारिक वस्तुएं उनमें अनुराग जब बढ़ता है मनुष्य का और विपरीतता यहाँ रहती नहीं इसमें मनुष्य बड़ा सौभाग्यवाद मानता है और लोग कहते हैं वो बड़े भाग्यवान हैं उनको शासन सुख प्राप्त हैं बड़े भाग्यवान है पर उनकी जो ये ये भाग्य है ये भाग्य स्वरूपता ऐसे डायनामाइट पर रखने वाला महल है जो इस महल को भी आई देगा महल के अंदर बैठे हुए को भी भक्ति कर देगा उड़ा देगा ये बड़ी बड़ी चीज है परंतु की ये बड़ी मीठी लगती है इस प्रकार की मीठी लगती है कि जहाँ तक अनुकूलता मिलती रहती है वहाँ तक हम उस अनुकूलता का परित्याग करना चाहते नहीं बढ़ाते रहते ये संसार में सफलता जब तक मिलती है तब तक आदमी आगे से आगे नए नए बंधन पैदा करता रहता है ये भी कर लें वो भी कर लें वो भी कर लें और जब विस्तार हो जाता है जब चारों तरफ थकावट कॉम्प्लिकेशन भर जाते हैं चारों तरफ तब वो कहता है पहले वाले से हो जाए तो अच्छा अब पहले वाले से हो जाए कैसे तो अब तो तुम अपने आप को अपनी द्वारा जाल फैलाकर इतना फंसा चुके हो कि चारों तरफ जाल ही जाल का विस्तार जो विस्तार है जिधर जाए उधर बंधन उधर जाए उधर बंधन इस समय व्याकुल होता है आदमी फिर भगवान को याद करता है कैसे जाल काटो तो भगवान फिर जाल काटते हैं जरा सा जाल काटने पर अगर कहीं फिर प्रतिकूल अनुकूलता मिली तो फिर कैसा महाराज जाल को फिर से गांठ दिया फिर गांध दो उस जाल को ये जो संसार में मनुष्य घबराता है ना किसी विषय में ले करके सब कैसा इसे फिराए ये पुराना जो है ना ये वैराग्य नहीं है ये बस नहीं चीज है अनुकूलता के अनुसंधान में बैराग्य बनाता है बोले हमको तो घर में रहना नहीं हमको तो घर से वैराग्य हो गया हम भागेंगे क्यों भागोगे भाई तो घर वालों की हमारे साथ प्रीत नहीं घर वाले हमको मानते नहीं हमको अपना हिस्सा नहीं देते खान पान यहाँ उनको नहीं देते वृद्ध रहते हैं तो हम घर में रहना चाहते हमको घर को छोड़ के जाए विराग हो गया अरे विराग हो गया कि अनुकूलता न दिखने से दुख हो गया बोले एकांत में रहेंगे ना सुख मिलेगा अनुकूलता मिलेगी तो अनुकूलता की खोज का नाम वैराग्य नहीं है तो जब मनुष्य किसी विपत्ति में पड़ता है खुशता है तब वो कहता है कि हे भगवान फिरा दो वो विपत्ति जानता इसलिए है कि वो दिखे तो बुरे नहीं है ये जो बीच में बंधन आ गया ये बोला ये कट गया तो बस कुछ आएंगे तो कुछ नहीं करेंगे जहाँ कट गया बोल महाराज अब तो विपत्ति को तो आपने कहा दीदी अब तो फिर वही शुरू हो जाए करा बच्चा भी करते विपत्ति फिर आ गई बोले जाल में फिर आप बांधते हमको और जाल में बांधने के बाद फिर वैसी कभी बंधन के अनुभूति में मौज में रहे कि तो ये ये मन, ये मनुष्य का वैराग नहीं जो क्षणिक होता है मन में ये अनुकूलता का ये प्रतिकूलता का भय है प्रतिकूलता से डर कर आदमी अनुकूलता को प्राप्त करना चाहता है उसका नाम रख देता है वैराग्य स्वाभाविक विषय में विरक्ति जब होती है तब अपने आप दुखने से घृणा हो जाती है जब तक सत्ता रहती है तब तक दुखों में घृणा होती है दुखे बुरे मालूम होते हैं अपने भगवान के अतिरिक्त किसी दूसरे विषय को वो सुनना जानना कहना मिलना वो नहीं चाहता स्वाभाविक इसका मन उधर से हटा रहता है जैसे किसी बुरी चीज को देख करके हमारा मन हट जाता है जो मांसाहारी नहीं है वो लोग मांस के नाम से उन्नति कर देते हैं मनुष्य का नाम जो अत्यंत सत्यवादी हैं उनको कहीं असत्य बोलने का प्रसंग आ जाता है तो महाराज कांप जाते डर जाते जिसके जब कहा कि तुम जरा कह दो कैसे तो खाना मारा गया तो कांप गया विस्तृत की कैसे कह दें पर वो तो भगवान का संकेत था वो क्या था उसमें भगवान जाए उसकी समालोचना करने का हमको अधिकार नहीं तो उनका संकेत था इसलिए और वो भी फिर बड़ा जाल वाल रखा गया वहां पर भी वो उन्होंने अर्ध अर्ध सत्य कहा ये तो कह दिया कि मारे जाने वाला मनुष्य ही था ये सिर नहीं तुमने नहीं दिया दूसरी बात हाँ सुंदर होगा हाँ तो ये तो कह दिया पर उसको सुनने नहीं दिया ये ये ये पॉलिटिक्स थी वहां पर तो कहने का मतलब उसमें यह है कि जैसे सत्यवादी को सत्य है जैसे हिंदू को गोमांस फलता है जैसे पतिव्रता को व्यविचार खड़का है इसी प्रकार से विषय विरक्त पुरुष को विषय मात्र खड़ते हैं वो सुहाते नहीं भाते नहीं उनके देखने से घृणा होती ये सब फिर उनके त्याग में किसी प्रकार की महत्ता का बोध नहीं होता पिंड छूटा आसपति आज से जल जल रहे थे उस आग की लपटों से निकले सौभाग्य हो गया महत्व की वस्तु का परित्याग नहीं आग की आग की लपटों से निकल आए जहर पी लिया था ये जहर निकाल दिया डॉक्टर ने हमारी रक्षा कर दी इस प्रकार का भाव विषयों के अभाव में विषयों के न रहने पर विरक्त के मन में आता है तब समझना चाहिए कि उसे विषय विराग का बैराग का एक हिस्सा मिला इसके बाद भोग सत्ता नहीं होती भगवान की सत्ता के सामने भोग सत्ता मिल जाती है फिर ये किसको त्यागे और किसको ग्रहण करे यहाँ रह जाते हैं केवल अपने राम भगवान यही देखते हैं सब वस्तुओं में तमाम जगत में वो हिंदू स्वराज की बड़ी भाई ऊंची यहाँ केवल मानवों ने भ्रातृत्व नहीं देखा यहाँ केवल चेतन वस्तुओं में ईश्वर की अनुभूति नहीं थी वस्तु मात्र में खंगाई मदन सर्वन नहीं कर तो ज्योति सत्यान जिसे द्रमादि कृष्ण ग्रह श्री मुक्ति के भूषण प्रणव जनन्य है ये खंगाई मदन सर्वन नहीं कर तो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ये दिशाएं ये गुरुमलताएं ये समस्त जीव ये सर्व समुद्र ये सब के सब ये भगवान के शरीर हैं सबके अन्न भाव से प्रणाम करते हैं ये जल चेतन सब में एक मात्र अपने भगवान का दर्शन उनको उनको होने लगता है तो किसका प्यार करें क्यों प्यार करें वो क्या सामने आ जाए यही महामाया भगवती महामाया भगवती भगवती का स्वरूप तो ये माँ ये ही भगवत स्वरूप सती सामने आ जाए ये भगवत स्वरूप दुख सामने आ जाए भगवत स्वरूप सुख सामने आ जाए भगवत स्वरूप अपमान आ जाए भगवत स्वरूप मान आ जाए भगवत स्वरूप ये निरंतर अपने भगवान की अनुभूति करने लगता है सर्वथा सर्वदा ये हो गया भक्ति निश्चय तो वैराग्य के बाद एक चीज होती है उसे दो शब्दों में ही कह सकते साधन की स्थिति में तो उसे हम कह कह सकते हैं साधन ज्ञान भक्ति में इसको हम कह सकते हैं दौधी भक्ति और शुद्धावस्था में इसको हम कह सकते हैं तत्वज्ञान या आत्म साक्षात्कार और इसे हम कह सकते हैं भगवत प्रेम की प्राप्ति तो भगवत प्रेम की प्राप्ति और आत्म साक्षात्कार इन दोनों में दुष्ण की सत्ता जैसे आज हमारे सामने ऐसी नहीं रहती बिल्कुल हमारी आंखें पलट जाती हैं बुद्धि की जिसे देखने की तो शान नहीं है जिधर आंख जाए जिधर मन की आंख जाए जिधर बुद्धि की आंख जाए जिधर सारी इंद्रियों का स्पर्श हो किसी से वो सब का सब ब्रह्म संस्पर्श है ये सब का सब भगवान का भगवान को मिलन है ये सब का सब वो आत्मारामेश्वरी रमत है आत्मरमन है वो आत्मरमन यही तो भोग है हम लोग रमन शब्द से तो गड़बड़ा जाते हैं पर रमन शब्द हमारा ये रमन हो रही है ये तो आत्मरमन है अपने आप रोमे रमे से बे सुंदर यथार्थ को चित्रबिंब विभ्रम है ये राष्ट्र पंचाध्याय ने कहा कि रमेश ने रमन कैसे किया किसके साथ किया तो कहते हैं यथार मतो प्रतिबिंब बुद्धन जैसे अपने प्रतिबिंब को देख कर उसके साथ बच्चा खेलता इसी प्रकार निर्देश कर्म मंगल में खोल भगवान ने किया तो वो खेल जब चलता है इस खेल में जब हम साथी होते हैं